इन बोध कथा पर सदगुरु ओशो का प्रवचन ट्रैक 22 विचार की बोतल और निर्विचार की मछली भाग दो तुमने कहानी सुन ली और अगर तुम नानसेन के पास जाओ और तुम पूछो इस बोतल वाली मछली का राज क्या है और तुम कहानी बताओ और नानसन कहे रिको तुम तो कुछ परिणाम ना होगा कहानी तुम जानते हो रिको को कहानी पता नहीं थी इसलिए सदगुरुओं को रोज रोज नई नई विधियां ईजाद करनी पड़ती क्योंकि जो भी कहानी तुम्हें पता है वो बेकार हो गई क्योंकि जो भी तुम्हें पता है बुद्धि उसके साथ इंतजाम जमा लेगी अगर तुम कहो कहानी का राज और नानसेन कहे रिको तो तुम जानते ही हो कहानी को तुम कहोगे जी पर वो जी बुद्धि से आएगा वो झूठा होगा वो कहानी का हिस्सा होगा वो वास्तविक नहीं होगा तुम कहानी की पुनरुक्ति कर रहे हो तुम नाटक के हिस्से हो प्रमाणिक नहीं हो लेकिन रिको के साथ ये पहली दफा घटा था उसे पता ही नहीं था कि नानसन क्या करेगा और जो भी वो सोच सकता था ये नहीं था सोच सकता था कि नानसेन कुछ कहेगा समझाएगा नानसेन ने सिर्फ आवाज दी न केवल आवाज दी जोर से हाथ की ताली बजाई टूट गई होगी नींद एक क्षण को चौंक गया होगा कहानी छिटक गई होगी भीतर कहानी का जो सिलसिला था वो एकदम टूट गया होगा एक क्षण को अंतराल पैदा हुआ होगा सुना होगा रिको और हाथ की ताली उत्तर जो आया होगा वो बुद्धि से नहीं आ सकता है वो बीच के अंतराल से खाली जगह से आया होगा उसने कहा हां गुरुदेव रिको चौंक कर बोला ये तो कोई कहानी का हिस्सा ही ना था ये कहानी से इसका कोई जोड़ ना था ये कहानी से बिल्कुल टूटी हुई बात थी अलग ही थी गैर सिलसिले में थी इसलिए ध्यान रहे सदगुरु तुम्हें गैर सिलसिले में ले जाने के लिए निरंतर नई विधि खोजेगा क्योंकि सब पुरानी विधियां बेकार हो जाती हैं मन इतना होशियार है कि पुरानी विधियों को सीख लेता वो कहता मैं पारंगत हो गया करवाओ मैं करने को तैयार हूं जपवाओ राम राम मैं जपूंगा आसन करवाओ शीर्षासन लगवाओ मैं लगाऊंगा ये सब मुझे पता है पतंजल के सभी योग सूत्र मैंने पढ़ लिए हैं मुझसे लोग आके पूछते हैं कि आप नई नई विधियां क्यों ईजाद करते हैं क्या पुरानी काम नहीं देंगे पुरानी काम नहीं देंगे क्योंकि मन जिसको भी जान लेता है उसी को व्यर्थ कर देता है इसलिए जब भी पतंजलि पैदा होगा उसे नई व्यवस्था उसे फिर से योग सूत्र लिखना पड़े पुराना योग सूत्र काम ना आएगा तुम जानकार हो गए तुम भली भांति जानते हो यम नियम अष्टांगिक मार्ग तुम्हें पता है पतंजलि बोले उसके पहले तुम बता दो कि यह हमें मालूम जिस चीज को भी तुम कह सकते हो यह हमें मालूम है वो व्यर्थ हो गए तुम्हारा मालूम होना ही तो तुम्हारा उपद्रव है तुम्हारे अज्ञान को उठाना पड़े तुम्हारे ज्ञान से उत्तर नहीं आना चाहिए तुम्हें इतना चौंका देना पड़े कि तुम्हारी बुद्धि छितर बितर हो जाए और भीतर से तुम्हारे प्राण का उत्तर आए रिको ने सुना जोर से आवाज हाथ की ताली उसने कहा हां गुरुदेव वो चौंक कर बोला जैसे कोई दुर्घटना घटने को देखो नानसेन ने कहा मछली बाहर निकल गई जब भी तुम चौंक के प्रत्युत्तर दे सकते हो जब भी तुम बुद्धि के बाहर से उत्तर दे सकते हो मछली बाहर निकल गई बुद्धि की बोतल है बोतल टूटती नहीं सिर्फ खुलती बोतल को तोड़ने की जरूरत भी नहीं लेकिन जब भी तुम्हारे भीतर से कोई आकस्मिक उत्तर आता है वो बुद्धि से नहीं आता बुद्धि से नया तो आ ही नहीं सकता बुद्धि सदा पुरानी है उससे हमेशा पुराना आता है बुद्धि पुनरुक्ति है वो यांत्रिक है उससे नया तो पैदा हो ही नहीं सकता उसमें तुमने जो डाला है वही निकलता है जो नहीं डाला वो नहीं निकलता तुमसे कोई पूछे ईश्वर है बुद्धि फौरन उत्तर देती हां या ना वो तुम्हारा डाला हुआ उत्तर है उसका कोई मूल्य नहीं है तुम हां कहो कि ना कहो सब कचरा है तुम कहो कि मैं आस्तिक हूं दो कौड़ी का है तुम कहो कि मैं नास्तिक हूं दो कौड़ी का है बुद्धि से उत्तर आया उसका कोई संबंध नहीं लेकिन जहां बुद्धि ठिटक जाए जहां बुद्धि से उत्तर ना आए जहां तुम्हारा अतीत ना बोले जहां तुम्हारा मृत अनुभव न बोले जहां तुम बोलो अभी और यहीं जहां उत्तर जीवन सहज हो स्पंटेनियस हो स्वस्फूर्त हो बस बोतल खुल गई ढूंढने की जरूरत ना रही थोड़ी देर को बादल छट गए और सूरज बाहर निकल आया बादल सूरज को घेरे बादलों को तोड़ने की जरूरत थोड़ी है सिर्फ छिटका देने की जरूरत है और एक बार तुम्हें अनुभव हो जाए तब तुम बादलों के भीतर भी मुक्त हो सूरज भली भांति जानता कौन बादलों से घेर सकते बादलों की सामर्थ्य क्या इसलिए ज्ञानी विचार का भी उपयोग करने लगता है ज्ञानी बोतल का भी उपयोग करने लगता है बोतल उसे बांधती नहीं बोतल भी एक उपकरण हो जाती देखो नानसेन ने कहा मछली बाहर निकल गई ये और मुसीबत खड़ी कर दी ये और भी चौंकाने वाला है इसने दूसरी दफे तारी तोड़ दी होगी क्योंकि पहली दफे तो रिको ने समझा होगा कि कुछ ऐसी दुर्घटना घट रही है कि नानसेन कहानी भूल गया घर में आग लग गई कि मरने जा रहा है कि कुछ हो रहा है कि वो चिल्लाए रीखो जैसे कोई डूबता हो कहानी उसे भूल ही गई उसकी बुद्धि से उत्तर न आया उसके प्राण बोले हां गुरुदेव और नानसेन ने फिर कहानी वापस जोड़ दी और नानसेन ने कहा देखो मछली बाहर निकल गई ये फिर आकस्मिक है इस कहानी के दो तल है एक तल पर सब सीधा जा रहा था एक गड्ढा आ गया एक दचका लगा जब नानसन ने कहा रिको और ताली बजाई तब सब तारतम्य अतीत से टूट गया और जब रिको ने उत्तर दिया और नानसन ने कहा देखो मछली बाहर निकल गई उसने फिर सारा तारतम्य जोड़ दिया रिको के लिए यह फिर आकस्मिक है क्योंकि सिर्फ कहानी समझाने के लिए इतने जोर से चिल्लाने की कोई जरूरत न थी और न ताली बजाने का कोई प्रयोजन था नाहक चौंकाया ये तो नींद में ही चल जाता लेकिन नानसेन ने रिको के अनुभव में कहानी को डाल दिया अब रिको भीतर से जानता है कि क्षण भर को मछली बाहर निकली थी इसमें कोई शक नहीं इसका स्वाद उसे आ गया गुरु समझाते नहीं दिखाते जैसे कि मैं तुम्हें द्वार पर ले जाऊं और दिखाऊं कि देखो बाहर कि खिड़की खोलूं और बताऊं कि देखो बाहर सूरज निकला है समझाया क्या जा सकता है सब समझाना तो मैं केवल खिड़की तक ले आने के लिए फुसलाना है बस सब समझाना ऐसे जैसे छोटे बच्चों को मिठाई दे के हम कहीं ले जाएं मिठाई के मोह में वो चले आते खिड़की भी खुल जाती वो मिठाई पर ही नजर रखते हैं लेकिन जब खिड़की खुल जाती तो बाहर भी देखना पड़ता है अब तक जो भी गुरुओं ने समझाया वो सिर्फ खिड़की पर लाने के लिए फिर अचानक वो आवाज देंगे रिको ताकि तुम चौंक जाओ तुम्हारी नींद टूटे तुम्हारी बुद्धि का सिलसिला टूटे तुम गैर सिलसिले में बाहर झांक पाओ एक क्षण को भी तो मछली बाहर निकल जाती बोतल टूटती नहीं सिर्फ खुलती है री को तो और मुश्किल में पड़ा होगा कहानी हल कर दी गई और कहानी के संबंध में एक शब्द भी ना कहा गया और जिंदगी की कहानी भी ऐसे ही हल होती मुझसे लोग पूछते हैं कि ये ध्यान की प्रक्रियाएं लोग चीखते हैं चिल्लाते हैं हुंकार मचाते हैं नाचते हैं रोते हैं गाते हैं ये क्या है ये तुम्हारे भीतर बुद्धि के सिलसिले को तोड़ना है ये तुमने कभी नहीं किया इसे तुम भी बीच भीतर भीतर सोचते हो ये मैं क्या कर रहा हूं तुम नहीं सोचते तुम्हारी बुद्धि कहती है तुम क्या कर रहे हो लोग क्या कहेंगे ये तुमने कभी नहीं किया इज्जत है प्रतिष्ठा है सब नष्ट किए ले रहे कोई क्या कहेगा तुम और रो रहे हो कोई क्या कहेगा कि नाचकून चिल्ला रहे हो पागलों की बात ही बुद्धि जीवन को पागलपन समझती है क्यों क्योंकि विपरीत जीवन में जुड़े हैं कि बुद्धि को जीवन पागलपन जैसा मालूम पड़ता है अगर बुद्धि का चले तो वो तुम्हें मरने के लिए तत्काल राजी कर ले वो कहे ये जिंदगी तो गणित के हिसाब से चलने रही बेहतर तुम मर जाओ मरा हुआ आदमी बिल्कुल गणित से चलता है ये जिंदगी बड़ी बेबूझ जा रही है रहस्यपूर्ण और अक्सर बुद्धिमान जिसको हम कहते हैं वो धीरे धीरे धीरे अपने को मार लेता है वो बोतल में बंद हो जाता है किसी भांति तुम्हें चौंकाना जरूरी है जैन गुरु जब उसके शिष्य ध्यान करते हैं तो डंडा लेके घूमता रहता वो डंडा मारता भी वो कभी भी किसी के भी सिर पर उसका डंडा पड़ जाता लेकिन वो डंडा उन्हीं क्षणों में मारता है जब वो देखता है कि भीतर बोतल बहुत मजबूत है विचार बहुत घने हैं या कोई विचारों में बिल्कुल सो गया तब वो डंडा मार उस डंडे में एक क्षण को बोतल खुलती जिन लोगों ने जेन के संबंध में सिर्फ पढ़ा है और जिन्हें उसका कोई अनुभव नहीं वो बड़े हैरान होते हैं कि कैसे दुष्ट गुरु ये दुष्ट नहीं है ये महाकरुणावान तुम्हें एक झलक भी मिल जाए स्वाद एक दफा मिल जाए बोतल के बाहर मछली के होने का फिर तुम खोज कर लोगे क्योंकि तुम जानते हो खजाना भीतर अपने ही भीतर अब कहीं खोजना नहीं बोतल भी अपनी है मछली भी मैं हूं और बोतल विचारों की उसको हटाना है अब कोई मामला कठिन नहीं अब कहीं किसी हिमालय पर जाने की जरूरत नहीं बस अब आंख बंद करके इस बोतल को ही चौड़ाने की जरूरत है इन बदलियों को ही छांटना है कभी जैन गुरु शिष्य को उठा के खिड़की के बाहर भी फेंक देता है जो कि बिल्कुल अनहोना लगता है नानसेन के गुरु ने उसे खिड़की के बाहर फेंक दिया था वो गया था गुरु से पूछने कि बुद्धत्व क्या है कैसे उपलब्ध होगा गुरु एकदम पगला गया उसने उसकी एकदम गर्दन पकड़ ली वो एकदम घबराया कि उसने कहा कि मैं सिर्फ सवाल ही पूछ रहा हूं मगर उसने एक ना सुना उसने उस उठा के गुरु मजबूत था उसे उठा के खिड़की के बाहर फेंक दिया और जब वो नीचे गिरा जमीन पर धड़ाम से तब उसके गुरु ने कहा समझ में आया अब फिर से भीतर आके पूछ तुम होते भाग गए होते दोबारा उस दरवाजे पर न गए होते नानसेन फिर भीतर आया उसने झुक के गुरु को प्रणाम किए और उसने कहा थोड़ी सी झलक तो मिली कैसे मिली होगी झलक खिड़की से गिरने में लेकिन जब तुम्हें कोई अचानक फेंक दे इतना असंगत काम हो रहा है क्योंकि तुम सीधा सवाल पूछ रहे थे कि बुद्धत्व क्या है इसमें कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं थी इसमें कोई कुश्ती का सवाल नहीं था और इस आदमी ने अचानक तुम्हें फेंक दिया सिलसिला टूट गया होगा बुद्धि एकदम चकरा गई होगी सोच विचार को कुछ बचाना होगा बुद्धि के पास कोई उत्तर नहीं है इस घटना का अगर नानसेन बुद्धि की सुनता गिरने के बाद तो लौट जाता समझता है आदमी पागल है अपने जाके गलती की और दूसरों को बताता कि कभी भूल के इसके पास मत जाना इसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया या पुलिस में रिपोर्ट करता अदालत में मुकदमा चलाता लेकिन नानसेन जब नीचे गिरा तब गुरु ने खिड़की से झांक के पूछा कि नानसेन पता चला कुछ समझ में आया उस समय विचार लौटे नहीं थे अंतराल था उस अंतराल में गुरु का खिड़की पर से झांकता हुआ चेहरा बुद्ध का चेहरा था उस अंतराल में नानसेन को दिखाई पड़ी वो आंख जो बुद्ध की आंख थी दिखाई पड़ी वो करुणा जिसने उठा के फेंका और भीतर क्षण भर को विचार नहीं थे मछली बाहर थी बोतल खुली थी लौट के दरवाजे से आया गुरु के चरण उसने छुए और उसने कहा कि समझ में आया और सदा मुझ पर कृपा करना अब जब भी मैं पूछूं उत्तर मत देना खिड़की के बाहर उठा के फेंक देना उत्तर तो बहुतों ने दिए थे और उत्तर मुझे ना मिला अगर तुम सच में ही खोज में हो तो उत्तर शब्दों से नहीं दिए जा सकते आकस्मिक घटना तुम्हें खोलेगी और कठिनाई यही है कि हजारों साल हजारों तरह की घटनाएं घट चुकी हैं हजारों कहानियां निर्मित हो चुकी हैं और तुम उन सब कहानियों से परिचित हो इसलिए रोज नए को ईजाद करना जरूरी है जिसका तुम्हारे पास कोई हिसाब किताब ना हो जो तुम्हें चौंका दे और अंतराल में गिरा दे कहते हैं नानसन ने बहुत लोगों को जगाया लेकिन कृपा उस गुरु की थी जिसने खिड़की के बाहर नानसन को फेंका था कई बार जैन गुरु बहुत दुष्ट मालूम पड़ सकते हैं एक शिष्य नानसेन से कुछ पूछने आया है जैसे ही वो दरवाजे में प्रवेश कर रहा है कि नानसन ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया उसका हाथ दरवाजे में दब गया और पिछल गया लहू लुहान हो गया हाथ भीतर दबा है और नानसन दरवाजे को दबाए हुए बाहर से, से चिल्ला रहा और नानसन कह रहा चिल्लाना बंद कर हाथ को छोड़ भीतर देख ये क्षण चूका जा रहा है तू हाथ को देख रहा है दरवाजे को देख रहा है खून को देख रहा है क्षण चूका जा रहा है ये सब पीछे सोच लेंगे इतनी जल्दी क्या है समय बहुत पड़ा है तू इस समय भीतर देख क्योंकि जब भी कोई ऐसी घटना घटती है तभी थोड़ी देर के लिए बोतल खुलती तुम चूक जा सकते हो और अगर तुम्हें ख्याल हो तो जरूरत नहीं है कि नानसेन दरवाजा बंद करे नानसेन का गुरु बाहर फेंके जिंदगी बहुत मौके दे रही है साइकिल का एक्सीडेंट हो गया है कार का एक्सीडेंट हो गया है तुम सड़क के किनारे पड़े हो उस मौके को मत चूकना खुद परमात्मा ने तुम्हें फेंका है एक अवसर दिया है कि मछली बोतल के बाहर हो जाए इसलिए ज्ञानियों ने कहा है कि दुर्घटनाएं भी सौभाग्य अगर तुम्हें अकल हो तुम्हें अकल ना हो तो सौभाग्य को दुर्भाग्य बना लेने में तुम कुशल हो दुर्घटनाओं में भी झलक मिल सकती है लेकिन रोना चीखना चिल्लाना मत शुरू कर देना अंतराल मिला है तुम सड़क के किनारे पड़े हो एक क्षण को सब बुद्धि अस्त व्यस्त हो गई अराजकता आ गई सब टूट गए बादल खाली हो कुछ सोचने को नहीं आ रहा बस इसी समय भीतर देख लेना जिंदगी भी बहुत मौके देती है लेकिन तुम चूकने में कुशल हो तुम ध्यान ही नहीं देते अंतराल पर जब भी कभी मन के दो विचार दूर होते हैं और बीच में खाली जगह होती तभी तुम कुछ और काम में लग जाते शायद तुम भयभीत खुद से मिलने से डरे हुए हो ये भय छोड़ो ध्यान में भी जैसे ही अंतराल आता है लोग भयभीत होते हैं मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि बहुत डर लगता है जब भी तुम्हें डर लगे तब समझना कि ठीक जगह के करीब हो क्योंकि बुद्धि आश्वस्त तब तक रहती जब तक उसका सिलसिला चलता है जैसे ही उसका सिलसिला टूटता है बुद्धि भयभीत होती वो कहती अब अज्ञात में अनजान में प्रवेश हो रहा है अब मुझ पर भरोसा मत करो लौट आओ वापिस जाने माना रास्ता ठीक है उसी कोल्हू के बैल के रास्ते पर चलो जिस पर हम सदा चले वहां सब पहचाना हुआ है वहां कोई खतरा नहीं घटता वहां कोई दुर्घटनाएं नहीं बुद्धि वहीं भयभीत होती है जहां वो पाती है कि दुर्घटना घट सकती अज्ञात करीब आ रहा है अनजान अपरिचित को देख के बस भीतर बुद्धि बेचैन होने लगती जब भी तुम्हारे ध्यान में बेचैनी आने लगे भय आए परमात्मा को धन्यवाद देना ठीक घड़ी करीब आ रही जल्दी ही परमात्मा तुम्हें खिड़की के बाहर फेंकेगा सिर पर डंडा उतरेगा या तुम्हारा गुरु आवाज देगा रिको ताली बजाए और एक क्षण में मछली बोतल के बाहर हो सकती मछली सदा से बोतल के बाहर है तुम बड़े कलाकार हो कैसे तुमने उसे बोतल में कर लिया वस्तुतः मछली सदा से बाहर है और तुमने उसके चारों तरफ बोतल बनाई है लेकिन बोतल मजबूत बन गई और अब तुम छटपटा रहे हो और अब तुम चिल्लाते हो कि मैं स्वतंत्रता मोक्ष चाहता हूं कैसे इस परतंत्रता के बाहर निकलूं और निकल नहीं पा रहे हो और बोतल तुम्हारी अपनी बनाई हुई है इस कहानी का एक शब्द में क्या सार हुआ जब चिल्लाया नानसेन रिको और उसने ताली बजाई तो क्या हुआ एक क्षण को होश आया रीको को बस होश के क्षण में बोतल के बाहर हो जाती मछली जिस क्षण तुम होश में हो उस क्षण तुम परमात्मा हो उस क्षण कुछ पाने को नहीं उस क्षण कुछ खोने को नहीं उस क्षण कहीं जाने को नहीं उस क्षण तुम सिद्ध हो उस दिन तुम सिद्ध शिला पर हो पर फिर खो जाएगा वो क्षण उसे तुम्हें बार बार खोजना पड़ेगा और जितना तुम खोजते रहोगे उतना ही आश्वस्त होते जाओगे जितना बार बार उसका स्वाद लोगे स्वाद गहरा होता जाएगा जितना बार बार उसे पहचानोगे उतनी प्रतिभिज्ञा गहरी होगी ही मजबूत होगी और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम पाओगे कि बोतल तो कभी थी ही नहीं मछली सदा से मुक्त मछली बाहर है इस क्षण भी देखो मछली बाहर है थोड़ा सा अंतराल कहां समस्या है समस्या बनाई हुई है और इसलिए हल नहीं हो सकती क्योंकि समस्या झूठी है समस्या है ही नहीं सिर्फ बनाई गई है मछली बाहर ही है जागो और मछली बाहर ये जो पहेलियां हैं सोचने के लिए नहीं जागने के लिए विचार करने के लिए नहीं होश से भरने के लिए ये कहानियां तुम्हें चौंकाने के लिए तुम्हारे भीतर जो बुद्धि का प्रवाह है उसे रोक देने के लिए ये तुम्हारे भीतर भी घट सकता है कोई भी बाधा नहीं है तुम चाहो तो इसी क्षण घट सकता है कोई तुम्हें रोक नहीं रहा है तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी नहीं है चाहो तो रोक लो चाहो तो घट जाने दो एक ताली के बजने से घटना घट सकती है और यह भी हो सकता है तुम जन्मों जन्मों तक शीर्षासन और हठयोग करो और घटना ना घटे ताली के बजने से भी कुछ चौंक गया और घटना घट गट गई जागने से घटना घटती आसन लगा के भी तुम सोए रह सकते हो आसन भी तुम्हारे नींद के ही हिस्से हो सकते हैं तब आसन भी बोतल बन जाएंगे तब तुम रोज आसन कर लोगे और बोतल मजबूत होती चली जाएगी गुरुजी एक अनूठा प्रयोग करता था जैसा प्रयोग किसी दूसरे गुरु ने कभी नहीं किया और इसलिए नए गुरु को समझना मुश्किल हो जाता है और ध्यान रखो कि नया गुरु ही जगाता है पुराने गुरु तो तुम्हारी बुद्धि के हिस्से हो जाते मैं तुमसे कहता हूं कि मेरे पास तुम जाग सकते हो कभी तुम्हारी बोतल के बाहर आ सकती मछली क्योंकि तुम्हारी बुद्धि अभी मेरा हिसाब लगाने में असमर्थ है भारत में सैकड़ों गुरु तुम उनके पास जाओगे मैं कहता हूं तुम्हारी बोतल मछली के बाहर नहीं आएगी नहीं आएगी इसलिए कि तुम्हारी बुद्धि में और उन गुरुओं की बुद्धि में कोई भी भेद नहीं तुम एक ही सिलसिले के हिस्से हो वो तुम्हें चौंका ना सकेंगे वो जो तुम कहेंगे तुम्हारा सिर भी हिलेगा तुम कहेगा बिल्कुल ठीक है यही तो हम मानते हैं वो तुम्हें शास्त्र समझाएंगे तुम कहोगे बिल्कुल ठीक है यही तो हमारी व्याख्या है वो तुम्हें चौंका नहीं सकते तो जगा नहीं सकते तुम्हारी और उनकी बुद्धि में तालमेल क्योंकि वे परंपरागत है गुरुजी ने बड़े अनूठे प्रयोग किए एक प्रयोग उसका यह था कि जो व्यक्ति भी उसके पास आता वो पहला काम ये करता कि उसका भोजन बदल देता अगर वो शाकाहारी था तो मांसाहारी कर देता अगर वो मांसाहारी था तो शाकाहारी कर देता तो पूरी शरीर की केमिस्ट्री पूरे शरीर का रसायन झंझट में पड़ जाता है एक दिन का काम नहीं है शरीर बनता है जीवन में एक जैन को जिसने कभी मांस मछली नहीं खाया मांस मछली खाना पड़े खोपड़ी पे लठ पड़ गया किसी ने खिड़की से फेंका उससे भी ज्यादा खतरनाक हो गया ये मान क्योंकि खिड़की से फेंक के शरीर की केमिस्ट्री को थोड़ा बहुत धक्का लगता है ज्यादा नहीं क्या होगा थोड़ा हाथ पर छिलबुल जाएंगे तुम ठीक ठाक कर लोगे मलम लगा कोई ऐसी जान नहीं निकली जा रही लेकिन गुरुजी अब शाकाहारी को कहता कि मांसाहार करो तुमने अगर कभी मांस नहीं खाया तो खाने का सोच के भी बेचैनी खड़ी होती सारा रुआ रुआ कपता है और तुम्हारी बुद्धि कहेगी भागो इस आदमी से कहा के ना समझ के पास पड़े गुरुओं ने कभी मांसाहार करने को कहा सदगुरु सदा समझाते रहे शाकाहार और ये आदमी समझा रहा मांसाहार जिसने कभी शराब नहीं पी गुरुजेब इतनी शराब पिला देता उसको जितना कि पीना वाला भी पी ले दो चार दिन के लिए बिल्कुल डमाडोल हो जाता धक्का दे दिया उसने ब्रह्मचारी को कहता संभोग वैश्यागामी को कहता ब्रह्मचरी शराब जो पीता था उससे शराब छीन लेता अस्त व्यस्त करता नियम साफ था कि तुम जैसे चलते रहे हो अगर वैसे ही चलते जाओ उसी सिलसिले में तुम कभी ना पहुंचोगे तुम्हें डमाडोल कर देना पड़ेगा तुम्हें इस बुरी तरह फेंकना है खिड़की के बाहर कि तुम्हारी सब भीतर की हड्डी पसली अस्त व्यस्त हो जाए तो गुरुजी के पास से लोग अक्सर भाग जाते थे क्योंकि समझ ही ना पाते न तो उसे शराब में रस था न मांसाहार में रस था वो कुछ कह ही नहीं रहा था उसकी बात तो सीधी साफ थी कि तुम्हें चौंकाना है तुम जैसे हो अगर उसी सिलसिले में तुम बढ़ते हो तो तुम्हारी भ्रांति बढ़ती जाएगी तुम चौंकोगे नहीं तुम्हारी बोतल मजबूत होती जाएगी मछली बाहर ना आएगी जो सुस्त और काहिल होते उनको वो घंटों श्रम पे लगा देता सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक जो मेहनती होते उनको बिस्तर पे सुला देता तक बिल्कुल आराम करो नियम व्यक्तियों को देख के तय होते एक सुस्त काहिल आदमी आया जिसको उसने सुबह से काम पे लगा दिया जिद्दी आदमी था उसने कहा आप कहते हो तो करेंगे तो वो सुबह से रात तक काम करता रहा शाम को जब वो लौट रहा था गुरुजी फिर बाहर आया और उसको कहा कि चल थोड़ा काम और करना वो बिल्कुल टूटा जा रहा था कभी उसने किया नहीं था कभी तुम 12 घंटे उसने कभी काम नहीं किया 12 मिनट पैर लहू लुहान थे हाथ छाले पड़ गए थे क्योंकि लकड़ी काट रहा था दिन भर और गुरुजी उसको फिर वापस ले चला और जाके उसको एक हाल बनाया जा रहा था ध्यान प्रार्थना के लिए उसमें कुछ बीम कसने थे उसको ऊपर चढ़ा दिया वहां से अगर वो गिरे तो जान का खतरा है और वो इतना थका मांदा था कि अब वो जग भी नहीं सकता है वो बिल्कुल सोई हुई हालत में और वो बीम को लगाते लगाते वहीं बैठा बैठा सो गया इतना थक गया था बिल्कुल सो गया और जब वो सोया है तब गुरुजी चिल्लाया रिको ने भी क्या वैसी आवाज सुनी होगी क्योंकि कहानी चल रही थी और यह आदमी 12 घंटे का थका मांदा और ये नींद कोई साधारण नींद नहीं है ये नींद गहरी से गहरी नींद है क्योंकि इतना थक गया और जान खतरे में तो भी नींद आ गई और जब गुरुजी चिल्लाया और उसने आंख खोल कर देखी होंगी तो उसे समझ भी ना आया होगा कि वो कहां है कौन क्या सब रूप सब पहचान खो गई होगी सब आइडेंटिटी खो गई होगी उसने देखा भर होगा न उसको यह समझ में आया होगा यह आदमी जो चिल्ला रहा कौन ये जगह क्या है कभी तुम्हें ख्याल है गहरी नींद से कोई तुम्हें जगा दे तुम्हें एकदम से समझ में नहीं आता कि तुम कौन हो कहां हो क्या मामला मिनट दो मिनट लग जाते तब तुम्हारा बुद्धि फिर से सिलसिला पकड़ती पटरी पे आती और ये आदमी तो भयंकर थका हुआ था कहते हैं वो उसी क्षण सतोरी को उपलब्ध हो गया वहीं बीम पर बैठे बैठे वो हंसने लगा उसने गुरुजेब से कहा कमाल जिसकी मैं जिंदगी भर से तलाश में था वो हो गए चौंक गया चौंकने में कुंजी है इसलिए उस आदमी की तलाश करना जो तुम्हें चौंका दे बहुत बार मैं तुमसे ऐसी बातें कहना चाहता हूं जो मैं कभी कहना नहीं चाहता था उनकी सच्चाई और झूठ का सवाल नहीं है उनके ठीक और गलत होने की बात ही फिजूल है वो सिर्फ तुम्हें चौंकाने के लिए कही गई अगर तुम चौंक गए तो वे सार्थक है अगर तुम नहीं चौंके और सोच विचार में पड़ गए तो व्यर्थ हो गई गुरजी जैसे व्यक्तियों की बातों से तुम हिसाब मत लगाना कि उनका प्रयोजन क्या है उनके प्रयोजन बहुत भिन्न है अगर वो तुमसे कहते हैं मांसाहार करो तो इसका प्रयोजन ये नहीं कि वो महावीर के दुश्मन और मांसाहार करवाना चाहते हैं अगर वो तुमसे कहें शाकाहार करो तुम ये मत समझना कि वो महावीर के अनुयायी है और तुमसे शाकाहार करवाना चाहते उनका प्रयोजन ही भिन्न है और महावीर ने जब लोगों को कहा कि शाकाहार करो तब उनका भी प्रयोजन यही था महावीर छत्री घर में पैदा हुए जहां मांसाहार जीवन की व्यवस्था थी और महावीर जिनके बीच थे वो सभी मांसाहारी थे अचानक उनके बीच इस आदमी ने शाकाहार की बात कही इसने उन सबके जीवन की केमिस्ट्री बदल दी उन सबके भीतर के रसायन को तोड़ दिया और जब पुराना रसायन टूटता है तो पुराना मन भी टूटता है क्योंकि सब जुड़े हैं तो भीतर की रासायनिक प्रक्रिया को बदलने से मन की प्रक्रिया टूट जाती तो फायदा हुआ लेकिन अब जैनियों को शाकाहार से कोई फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि अब उनकी रासायनिक प्रक्रिया शाकाहार से नहीं टूटती अब तो कोई उनको मछली डाल दे मुंह में तो शायद टूटे क्योंकि अब तो वो झपकी गहरी लग गई अब तो रोज शाकाहार कर रहे हो ठीक उसी हालत में जिस हालत में महावीर ने मांसाहारियों को पाया था अब वो शाकाहारी अब शाकाहार बुद्धि का हिस्सा हो गया जो भी चीज बुद्धि का हिस्सा हो जाए व्यर्थ हो जाती है क्योंकि उससे बुद्धि चलती जाती किसी साधु को कहो कि जाओ और चोरी करो और जिसने कभी चोरी नहीं की थोड़ा सोचो कैसी साधना होगी जब वो चोरी करने जाए बुद्धि चलेगी वहां बुद्धि बिल्कुल नहीं चलेगी बुद्धि तो कहेगी वापस कहां जा रहे हो ये तुम क्या कर रहे हो अनिति हो रही अगर वो चलता ही चला जाए तो बुद्धि पीछे छूट जाएगी वो उसके साथ नहीं जाएगी वो कहेगी तुम पागल हो गए जाओ जहां तुम्हें जाना अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आती पछताओगे पीछे कह देती हूं लेकिन अगर वो हिम्मत रखे और चोरी करने चला जाए तो बुद्धि की सारे में टूट जाएंगे हो सकता है चोरी में ही समाधि फलित हो जिंदगी बड़ी रहस्यपूर्ण है वहां तुम्हारा सिलसिला टूटना जरूरी है वो कैसे टूटेगा कहना मुश्किल है लेकिन एक बात तय है कि जब वो टूटेगा तभी तुम जागोगे वो नहीं टूटेगा तुम जाग नहीं सकते सदगुरुओं ने अनेक उपाय किए हैं वो उन लोगों को देख के किए गए हैं जिनके बीच वो थे कोई उपाय शाश्वत नहीं सब उपाय उपयोगी हैं कभी और कभी निरुपयोगी हो जाते व्यक्तियों पर निर्भर है अगर कोई गुरु रोज ही तुम्हें खिड़की के बाहर फेंकता रहे तुम अभ्यासी हो जाओगे तुम समझोगे कि व्यायाम करवा रहा तुम रोज जाकर खड़े हो जाओगे क्या फिर से फेंकी तुमने व्यर्थ कर दी बात क्योंकि यह कोई अभ्यास का मामला नहीं था अभ्यास में कभी कोई चौंक ही नहीं सकता जिस चीज का अभ्यास वो बुद्धि का हिस्सा हो जाती इसलिए कबीर कहते हैं साधो सहज समाधि भली अभ्यास किया कि भटके सहज का अर्थ है जो अभ्यास से नहीं होता जो सहज होता है जो अभ्यास के बाहर होता है तो कबीर कहते हैं ना तो मैं सिर मुडाता न मैं उल्टे सीधे आसन करता मैं कुछ भी साधन यत्न नहीं करता हूं क्योंकि यत्न तो अभ्यास हो जाए अभ्यास मन का हिस्सा हो जाता है इस प्रक्रिया को ठीक से समझ लो जो भी तुमने साधा वही मन का हिस्सा हो गया क्योंकि वो फिर तुम्हें चौंकाएगा नहीं जो भी अनसधा है जो चौंका देता है जो प्रत्न के बाहर जो तुम्हारी समझ तुम्हारे यत्न तुम्हारी प्रक्रिया अभ्यास के बाहर है वही तुम्हें चौंकाएगा वही तुम्हारी नींद को तोड़ेगा वही तुम्हारे काराग्रह के बाहर से आई आवाज है ठीक कहते हैं कि समाधि तो सहज ही हो सकती है साधी हुई समाधि समाधि नहीं होगी पतंजलि भी जानते हैं इसलिए पतंजलि ने समाधि के दो हिस्से किए पतंजलि एक समाधि को कहते हैं सविकल्प समाधि और दूसरी समाधि को कहते हैं निर्विकल्प समाधि जो भी तुम साध रहे हो उससे सविकल्प समाधि आएगी वो वास्तविक समाधि नहीं वो समाधि का धोखा ही वो तुमने ही चुनी तुमने ही साधी है वो समाधि की छाया है वास्तविक समाधि नहीं वास्तविक समाधि तो निर्विकल्प होगी वो तुम्हारे साधने से ना आएगी वो कभी आएगी जब तुम मौजूद ना होगे जब कभी तुम किसी क्षण में खो गए होगे तब वो आएगी जब भी पाएगी तुम घर में नहीं हो वो आ जाएगी पहली समाधि घर में तब आती जब तुम होते हो तुम जितने होते हो उतनी ही ज्यादा आती पहली समाधि साधने से आती प्रत्न करने से आती अभ्यास करने से आती दूसरी समाधि घटती तुम्हारे हाथ में नहीं तुम उसे ला नहीं सकते तुम सिर्फ प्रतीक्षा कर सकते हो और तुम्हारी प्रतीक्षा इतनी गहरी हो जाए कि धीरे धीरे तुम प्रतीक्षा करने वाले को ही भूल जाओ कि कौन प्रतीक्षा कर रहा था तब अचानक तुम पाओगे वो उतर आई वो तुम्हारा उपाय नहीं वो अस्तित्व का प्रसाद है वो तुम्हारी मुट्ठी में नहीं है मुट्ठी में जो भी होगा वो तुमसे बड़ा नहीं हो सकता तुमसे छोटा होगा जिसे तुम ला सकते हो वो तुमसे छोटा होगा क्षुद्र होगा वो तुम्हारा ही फैलाव होगा जो तुम्हारे बिना लाए आता है वही विराट होगा इसलिए साध साध के तुम जो ले आओगे वो सिर्फ छाया है जिस दिन तुम साधना भी छोड़ दोगे उसी दिन सिद्ध होने की घटना घटती जिस दिन तुम ध्यान भी छोड़ देते हो करते हो करते हो करते हो कर कर के छाया निर्मित होती कुछ और निर्मित नहीं होता तुम छोड़ देते साधते हो साधते हो साधते साधते थक जाते हो उसे भी छोड़ देते हो एक ऐसी घड़ी आती जब तुम कुछ भी नहीं करते बस होते हो उसी घड़ी निर्विकल्प समाधि उतरती उसी को कबीर कह रहे हैं साधो सहज समाधि भले और ऐसी ही सहज समाधि रिको को घटी होगी जब गुरु सिर्फ चिल्लाया ताली बजाई और रिको चौंका उस चौंकने में घट गई मछली बोतल के बाहर हो गई इस रिको ने जान लिया इस रिको ने अनुभव किया और अनुभव ही बताएगा अर्थ अनुभव के बिना सब व्याख्याएं व्याख्याएं व्यर्थ उनमें कुछ सार नहीं क्योंकि वे जीवंत नहीं आज इतना ही